या तुम्हारा ख्याल यह है कि इनमें से अक्सर लोग सुनते या समझते हैं नहीं इनकी मिसाल तो बस चार पांव के जानवरों की सी है बल्कि ये उनसे ज्यादा राह से भटके हुए हैं